ए हमारे रब यकीनन मैंने अपनी कुछ औलाद को तेरे हुरमत वाले घर के पास उस वादी में आबाद किया है जो खेती वाली नहीं है ए हमारे रब ताकि वो नमाज कायम करें सो कुछ लोगों के दिल उनकी तरफ मायल कर दें और आप उन्हें फलों का रिस्क दें ताकि वो शुक्र अदा करें